प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहाँ है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर खाके देखा तो सचे खजूर खाके कूदता डर बच्चा ने बताओ रहा न परोरा क्या बचे थी वो रोज करे और मां ख्यास रखे कि इनको उसके पल्ले तला धरा हुआ एक दिन क्या हुआ कि वह मां भूल गई इब रोज के धरा जा से कितनी ख्यास कौन रखे एक दिन वो करके अपनी नमाज और खजूर खानता हुआ आया हुआ है और उसकी माँ का जाडा चढ़ गया कि आज तो तो जो है ना भूलगी और छोरे का दिल टूटेगा और ई पाछा यू कति नमाज नहीं करे थोड़ी वह देखा है तो खजूर खानता आया हुआ है इन्हें बोली रे खजूर कितने लाया अगर अच्छी दौड़ी माँ ये रोज दे भगवान अल्लाह मुझे अरे वो आज कितने लाया उन्हें सोची कभी काल का धर रहा हो आप बासी नहीं दिला करते रोज खाते थे और आज भी अल्लाह दे गया और तेन तो दाद हर दारू मां का चढ़ा डाडा ने रे तू डट मेरे बेटा साची बता मां अल्लाह दे गया और ताजा कति खजूर ने उकालो अब जिसको परमात्मा उठाना चाहता है जिसको अपनी शरण में लाना चाहता है वो सौ सो काम कर देवे और फिर उसका पेटा भर देवे और जब तक यह तसली नहीं हो जाएगी कि भगवान में या शक्ति से इतने भक्तिकरण की आवश्यकता भी नहीं है कहता पूरे विश्वास से लगो विश्वास दो तीन तरह तो या करे या तो कई सुने तो मान ले और भक्ति डट के कर ले फिर मन में विक्षेप नो नहीं आण दे कि यह भगवान नो नहीं कर सकता और जब नो नहीं होती तो लगन फिर उसकी पूरी लगन करे फिर विश्वास करे सो सो कथाएं पढ़े और भक्तों से मिला वेतन की मिला कि कैसे उपलब्धि हुई तो जो उपदेशी सही होंगे पूरे गुरु के तो जरूर बताऊंगे वह मेरे साथ नून्यू परमात्मा ने ऐसे ऐसे किया अच्छा हमने कल आपको बताई थी वो बात के परमात्मा गरीबदास करसोड़ा गांव में खुद प्रगट हुए वह बहन ये संतरा इधर बैठी हुई है करसोड़े तय उसके प्रत्यक्ष मिल लियो बाद में सत्संग से उससे पूछियो आत्मवीति कैसे गरीबदास जी आकर दर्शन दिए और फिर मेरा रूप बनाया कबीर साहब कहते हैं कबीर गुरु के रूप में वो परमात्मा दर्श दिखावे अपने गुरु के रूप में तेरे गुरु के रूप में अगर उस गुरु का सही उससे कनेक्शन है तो वो आकर उसके रूप में आपको दर्श दे के जाए ऐसा ही मेरे पूज्य गुरु जी जो कि 124 साल के हो गए वो वहां से फोटो लाई उठा के 124 साल के हो चुके हैं होकर के शरीर त्यागे छब्बीस जनवरी को वो एक बार अब देखो एक बात को आपके मन में बैठाने के लिए बीस प्रमाण दिए जाएंगे जब कि तेन जागर जचेगी कदे भगवान साचे कर दो इस काम ने और चलती फिरती कथा है तो काम नहीं चला करता तो मेरे गुरु जी तलवंडी पंजाब के अंदर तलवंडी भाई में बहुत बड़ा हमारा आश्रम है मंदी छोड़ का गरीबदासियों का और वहां वो काफी दिन रहे लगभग सत्तर वर्ष एक उनका मोगामा आश्रम है और एक नजबगढ़ के अंदर है एक खन्ना में और कई जगह और उनकी बहुत से अच्छे सेवक है तो उन्होंने तलवंडी के अंदर एक उनका शिष्य था लालाजी ये हमारे गुरुजी हैं जो कि 124 साल के होकर शरीर त्याग कर गए 26 जनवरी सन उन्नीस में स्वामी राम देवानंद जी महाराज ये आप देख रहे हो सामने स्वामी राम देवानंद जी महाराज 124 साल के 25वां वर्ष पूरा होने वाला था उनका ये श्री ताकत इनका एक्सेस लालाजी तलवंडी का तलवंडी भाई है पंजाब में मोगा के पास फिरोजपुर रोड के ऊपर उनका शस था अभी है वो तो जीवा है जब ये उग्रवाद बहुत फैला हुआ था पंजाब के अंदर रात के और शाम के समय किसी गांव से अपनी उगहाई करके छह हजार रुपये राजदूत मोटरसाइकिल की टंकी में डाल रहा आन लग रहा उग्रवादियों ने जीप में थे उसको वहीं से बंदूक दिखाई और वो रोक दी उसने मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल वहीं डाल दी और उसने गेर के उसके वहां जीप में और अपने ठिकाने पर ले गई बांध दिया दारू पीने लगे हुआ था एक कहने लगा के अभी कर दें इसका काम एक ने बोला नहीं सवेरा देखांगे कित जास है बांध दिया किथे नहीं जाता ये और ऐसे नहीं मार दे इस तड़फा तड़फा के मारांगे और घरवाला तो लुटांगे इनके कुछ पैसे जब इसनों जीते फिर भी मारना छड़ना नहीं है अब ये विचार वो सुने और एक तो वही दारू पीकर पड़ जाता है एक और दूसरी स्थान पर जाकर सो जाते और जब उसने जब उनते निमट लिया ना जब ईश्वर याद आया जब तेने सोच रहा था कदई मार कदई मार तो वह भी था वो जानिए जब ईश्वर अपने गुरु जी तर्ज करी कि हे गुरु जी आप तेनों को थे महाराज हम काल को छुटवा लेंगे आप तो कहते हो कि हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा है महाराज जी ये महाराज मेरा ताजा काल आ गया मैंने बचा लो बहुत बुरी तरह रो है इतना मैं वो बतावा था कि गुरु जी के रूप में खुद परमात्मा मन के मेरा जो परमात्मा था तो बाद में पता चला इनके रूप में नो के नो जाकर ने बोले खड़ा हो भाई हाथ लाते हुए सारे बंधन टूट गए पट दे बोला गुरु जी आप यहाँ कैसे अकनो बोला भाई तू जल्दी चाल फिर बताऊंगा कैसे नो बोला जी मन तो नो भी नहीं मालूम नहीं खामेगा जाना कहां से अब मेरा पीछे पीछे बोले उनका पीछा पीछा हो लिया नु कहता कि गारा मा कर पानी मा कर और इखा मा कर मारे घर ने छोड़ के ठीक साढ़े ग्यारह पौने बारह बजे अन्न बोला तोड़ा चढ़ गया और क्या ने नींद नहीं आ रही क्योंकि पंजाब के अंदर कोई भी हिंदू या लाला जी अगर छह बजे से पहला घर नहीं आता तो वो उसको मरिया समझ लिया करते या टेलीफोन करते थे रिश्तेदारों में जहां वो कह के जाया करता रास्ते में कौन से पड़े से वार होगी हो मोटरसाइकिल खराब होगी हो कहीं पर उसका जवाब नहीं मिला था और रोआ पीटी घर में माच रही इतने में बार तक कुआड़ खुड़पड़ाए और एकदम वह रोना बंद हुआ आवाज दी अक माँ कुआड़ खोल छोरे फलाना अपने लड़के का नाम दिया तीस पैंतीस साल का लड़का अं, था वो व्यक्ति बता घर के गानू पड़काले में तो गिरट दिया हूं सर क्यों नीचे बार लगा हुआ था गेट खोल कर के ऊपर जिंदा आ गया ऊपर बोले ऊपर बताऊंगा साइड दे बार बंद करके ऊपर चले गए सात बजे पाछा किसी की कुआड़ खुले नहीं देखे वहां पर हमने मंगाया था एक बार तो ठीक गढ़ था उसमें उग्रवाद का फिर उन्होंने बताई क्योंकि गुरु जी खोल के लाए बने उन्हें उनको किसने बताया अग्नो अग्नोनी बेरा मैंने किसने बताया गुरु जी पहुंचे वो यहां छोड़ के गए मत इतना पागल हो गया था कि मैंने बिना बेरा किधर जाना तो और हमारे गुरु जी बीमार उन नाम बुखार यानी उनको दस्त से लगे हुए थे और वहां सेवक उनकी सेवा करते थे वो सारा परिवार बढ़िया परिवार जाके और स्तुति कर कहे महाराज मारा एक पाठ करियो हे मंदी छड़ आपने मेरा छोरा बचा दिया गुरु जी ने बोले रख के कह रहे थे इनकी सुनो तो कि व्रत बहुत हो रहे थे उस समय अभी चौथे साल की बात से तीसरे चौथे साल जो बोला रख सुनो तो के कह सही अके कौ सो भाई फिर बताओ अगले ऐसे ऐसे काल मारा छोरा उग्रवादिया ने पकड़ लिया था और आपकी दया तो बचा महाराज आप लाए बचा के मैं कित बचाया अक आप गए थे महाराज जी छोरे खोल कर लाए और नुखा मैं कर ने बोला सतगुरु थे सतगुरु बंदी छोड़ कहने लागे गुरु जी कहने लागे ये कबीर साहब थे गरीबदास जी मैं तो उठ के बिना बैठा जानता मैं कित के लाऊ था नो बोले नो ना बोकाओ हमने क्योंकि महाराज कहते हैं जो गुरु मानस कर जानते हुए नर कहीं अंध और महादुखी संसार में फिर यम के फंड ईश्वर में और गुरु में और ईष्ट में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि ये महाराज के देवी को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान अगर इस शरीर को ही आप सतगुरु मानते हो और चार दागावनी जाको सतगुरु दान वो ईश्वर इसमें भी है और बार भी है इसमें सारे ईश्वर है ये हमने फोटो बनवा रखा है बाद में बताएंगे ईश्वर ईश्वरों की कहां कहां स्थिति किस प्रकार से तो इसमें पूर्ण ब्रह्म भी है और पार ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी है माई भी है माता भी है जो जितनी जिसकी शक्तियां सारी शरीर के अंदर विद्वान है परंतु जो जिसका इष्ट है कार्यवान वही होती है उसके लिए जो जिसका उपासक है वही इसमें से निकल कर उसकी मदद करा करे तो इस प्रकार इस बात को हमने आपके सामने चारों तरफ सुलझा कर यूं जचानी पड़ती है कि परमात्मा के प्रति विश्वास बिना काम नहीं चले ईद मैं थोड़ी सी आपने भी बता दो पर दुनिया झूठ पर हमारे लिए सत्य और वो अब भी विद्यमान है हमारे एक गैलरी रोहतक के अंदर मकान है एक बैठक और गैलरी बनी हुई थी नीचे एंटर करते ही अंदर जाते ही उस गैलरी पांच बाई साढ़े पांच बाई पंद्रह की उसके ऊपर मैंने अलग से एक मंदिर रूप में कमरा बनवा दिया न्यू का और उसी में बैठकर अपनी आरती साधना जो भी मैं किया करता उसमें अलग से बना लिया उसी में पाठ हुआ हमारे जितने भी हुआ करते थे तो जब वो बन गया तैयार हुआ तो हम एक जाली लाए जो कि लोहे की होती है ना के कैसी वो लगानी थी मच्छर प्रोटेक्शन के लिए मॉस्किटो प्रोटेक्शन के लिए कि भी मच्छर ना आवे क्योंकि इसमें बैठ के अपना वजन वजन करें तो वो जाली में लाया तो वो जैसे अं, लगभग मतलब इतनी के आठ इंच साढ़े आठ इंच वो छोटी आएगी आमने सामने जंगले इन या तो उस क्योंकि मैं उसको नाप दे करके चला गया जिसने जंगला यानी जाली काटनी थी जिससे मैंने मोल लेनी थी मैं और सामान लेने चला गया कमरा बना ही रहे थे जब ना जाने मेरे लखन में गलती रही या भगवान परमात्मा सतगुरु जाने के उसने बेईमाना कर लिया वो काट के दो जाली और बांध दी और मैं उन्हें नौकिन उठा गया पैसे देकर आ गया तीसरे चौथे दिन जो मकान तैयार हुआ वो लान लग गया ना उसके बाद तो वो लड़का था एक तो मेरे वाला बड़ा और एक वहां का अनिल नाम का एक किराएदार हमारा वो लान लगे तो वो कहने लगे जी जाड़ी तेरे छोटी से ना भाई मैं माफ के लिया छुट्टी कैसे फिर मैं गया देखो तो सचे जाली छोटी दूसरी फिर देखी कुल दो जाली पहली बार लाया था मैं कभी कोई सोचा पहला भी घर में ला रखी होंगी नहीं पहली बार उन्हीं मकान का लगाई उसी जंगले उससे तो पहला इतनी भी लाग रही हमारे घर में कोई जाली बाद में जो मकान बनाए उसका दो कमरे ला रखे तो मैं बोला भाई नहीं दे दो धरे और फिर देखांगे भाई ईब अपना ब्योत नहीं रह रहा <clears throat> पैसा बहुत खर्च हो लिया और वो ठाके और में बगा दी गिरदी ठाक फिर कुछ दिना के बाद एक पुस्तक छपवाई हमने मंत्र महाराज की नित्यम गरीबदास की वाणी से जो कि हमारे बच्चे और भाई और बहन ये सुबह नित्यम करते हैं इसमें आरती है गुरुदेव का अंग है सतगुरु की वाणी जो कि नित्य पाठ करने से बहुत लाभ होता है तो ऐसी पुस्तक हमने छपवाई 2000 उनको उठा करके वहां तकत बिछा हुआ था उसके ऊपर जचा दी वो सारे तखत पर ढेर सा लग गया मैं अगले दिन फिर गया तो देखा उसमें कि चूहिया ने थोड़ी थोड़ी काट रखी क्योंकि दो आमने सामने जो जंगले थे एक जंगला का शीशे के क्वार चढ़े हुए थे दूसरे का एक शीशा फूटा हुआ था उस फूटे हुए शीशे में का कपड़ा भी ला रखा था हमने पर फिर भी वो चूहे काट का कपड़े ने और वो उस तक काट रखी दो थोड़ी थोड़ी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उन दोनों गाड़ियों को इकट्ठा करके ऊपर नीचे चढ़ाकर और इस एक टूटे हुए शीशे के जंगले का ला दें मैंने सुबह सोरे ताई कहा हम हाँ आप वीरेंद्र भाई ऐसे करते हैं ये दोनों जालिया ने ऊपर नीचे करके अरिस चंगड़े का ला दी आप विश्वास कीजिए इस बात का मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पर चला गया शाम ने मैं आया तो वह जाली पूरी लगी हुई पाई और एक जाली तड़ पड़ी वो कितना ला कर जब बैठे थे क्यों कह के गांव में सुबेरे बालक से खेल ला गए फिर सोची वह पापा आंधे गुस्सा होगा तुम क्यों ना ला देंगे उन्हें कितना तो जब्बा लाई चार पांच बजे से तो छठ से में पहुंचा मन देखा वहां जाली पूरी लगी हुई एक का जाली क्योंकि ना तो नारी दिखा और जोड़ता है तो वहीं पर उसकी माँ अपना सानी सुनी का करी मैं इसका मैं कहने लगा या जाली जो है वीरेंद्र बदलवा के लाया के क्या बोली ना ये मैं तो नहीं दे रही मेरी बात को ना चुन तो का याद किया छोटी थी जो पांच छह महीने की बात होगी थी वो ला करके निखरा मोए फिर मैंने इसको इससे तो ज्यादा नहीं पूछा फिर वह लड़का वो आ गया इतनी देर में मैं कहने लग रहा वो जाली लगा दी तेना कहा लगा दी पापा ये ला रखी मैं बोला और लियास है तो वायस है अकवायस है अक साची बतावा महाराज बोला जी साची बताओ मैं कहा मेरे सिर पर आदल तो बदलवा के नहीं लाया नहीं बोला मैंने दुकान का भी ना बेरा वैसा बौड़ी गुट सा छोरा था पहला था तो ईद तो खैर बंदी छोड़ के गया तो दुकानदार बन गया और उन्हें छोटा ही था जो पंद्रह सोलह साल का दस बारह तेरह पंद्रह साल का होगा तो उन्होंने बोला मुन्ने नहीं मेरा कित बदलवा करें मैं कहा अच्छा था मैं कबीर साहब की कसम खा कबीर साहब की कसम मैं गरीबदास जी की कसम खा गरीबदास जी की कसम मैं नहीं डाल क्यों वो एक मेरा गल बढ़ा बीठ लड़ा तब तो फिर मैं इसकी माँ तो बोला माँ तुम सच ही बता या ने बोली देख एक तया तला पड़ी हुआ है मनस्तोर में तार के घेरी से इनका जर लाग रहा था नहीं देखती कि भाई पुरानी से और फिर जब मैंने ख्यास करी क्यों मैं तो उसी में पड़ गया था कदे बदलवा लाए हो क्यों घना इंजीनियर दिमाग बढ़ जाए ना पढ़े लिखा घना सहना हो जाए तो फिर साथी देखिए तो उद्योग की क्योंकि एक सीजन बारिश का उतर गया उतर गया था उनका जरसा लगा हुआ देखे उसको जाली को आप देखना मेरे साथ जाके वह घर यूं का यूं है तीन तरफ से तो ऐसे जैसे कति मात के ले रखी हुई और चौथी तरफ हुआ जाली यानी इतनी तो पूरी हुई और इतनी और बड़ी हुई से वह पूरी होकर और इतनी और नो लटक रही से मैं बोला भैया दूसरी ओर ला दो पर लकाने वह दूसरी लाई तो वो अभी उसी सिचुएशन में जो की तो अब भाई इसने झूठ माना नहीं है चाहे कभी दौड़ी मानो पर मेरे गल से नहीं लेकर सकती आगा उस दिन पाछा मैं तो भगत बना चाहे संत बना लो की लकीर होगी कि कबीर साहब गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है शास्त्र प्रमाण दें और ये आपके सामने और सैकड़ों ऐसे बता दें आपको अच्छा एक लड़का पंजाब खोड़ की आज आपको 20-25 संगत आई हुई है वो दूध याद से नहीं आया मेरे ख्याल में नहीं आया ना तो उसके हम पाठ करे थे यहाँ एक भगत जी का मास्टर जी आए हुए यहाँ पर बैठे हैं नरेंद्र मास्टर जी वो बैठे हुए हाँ उनके घर में हम पाठ करे वो सामने बैठे और ये इसे चैंपियन थे इतनी दारू पिया करते गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा था सारा परिवार दुखी अड़ोसी पड़ोसी दुखी और एक सत्संग में दारू बेड़ी कति छोड़कर संत हो गए तो वहां पाठ चल रहा था तो उसने बहुत उठ कर बैठा भी नहीं जा करता इतना बीमार था वो उस बीमारी तंग आकर सा, कई साल की दवाई खा रहा था चार पांच वर्ष से तो इन भक्तों ने जैसे हमारी कथाएं सुन रखी थी उसको भी बता दी कि ऐसे नाम लेते हैं भाई दुख दूर होया करें कबीर साहब भी कहते हैं सुमरण से सुख होता है और सुमरण तय दुख जा कहे कबीर सुमरण करता है साई मां समा सुमरण ने सब कष्ट मिटा करें देवदास जी महाराज कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं फिर कहते हैं कि दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे तबीब कहे वैद ने दास गरीब तबीब तन शरीर को चंगा स्वस्थ करत कबीर वे यानी इस परमात्मा में कबीर में यह भी शक्ति है एक बार कहते हैं कि काशी के एक कोडी जाकर कबीर साहब तने बोला महाराज बहुत दुखी से मेरा कोड नहीं ठीक उनका सारा गुम लिया अगले दिन गया दूसरे दिन गया तीसरा दिन बोला सारे कोडियान इकट्ठे कर ले सारा ने बुला लिया एक पानी का छीटा लाया था अनु बोला जाओ जानो निशान भी नहीं था उनके कोड का कबीर साहब की ये शक्ति है पर इसके ज्ञान ने रद्दी में डाल रखा लोग ने कहूँ था तक भगत है कवि था चौसठ लाख से सौ जाना आज से छह सौ वर्ष पहले कोई बच्चों का खेल नहीं है यानी इन चमत्कारों को देखा होगा तो उस दूध ये ने भी जो तो सुनकर आ गया जी मन नाम दे दो मैं दुखी सुमा अभी देख नाम ले ले और महाराज का माथा टेक आइए और विश्वास करिए जी विश्वास में भी जगह नहीं रह रही तो और कित करूंगा विश्वास या ही नहीं करूंगा तो पहले तो कहा दवाई ले अपनी जाके बीमार से तो हमको डॉक्टर थोड़े ने बोला जी सारे ले ली और कति बर्बाद हो लिया कति आराम भी नहीं होता ना नाम दे दिया दवाई छोड़ दी उसने आपका मैंने नहीं की छोड़ दे मत कहा करो थोड़ी बहुत खाती भी रहना क्योंकि कर्म कटते रहेंगे दवाई असर करना शुरू कर देगी उसने उस दिन विश्वास के साथ छोड़ दी दवाई छोड़ पाचा उसका राहत शुरू हुई पांच दिन दवाई नहीं खाई तो घर के न मुश्किल हुई कि डॉक्टर ने कह रखा दवाई नहीं खागा तू मर जाएगा घर के चिंता हुई तो दवाई नहीं खाता खाया कर लड़े डॉक्टर के ले गए डॉक्टर ने बोला वो लाओ एक्सरे उतारा और बोला पिछले एक्सरे भी लाओ पिछले एक्सरे ले गए उनमें पूरी बीमारी खतरनाक और एक्सरे देखा ने बोला कति बीमारी नहीं जो दूसरा देखा लास्ट और ने बोला गोली मत खा लिए कदे जी तो मर जा वो आज ते तो जीवा है कति स्वस्थ हो रहा है के नाम से उसका सती जय प्रकाश रिवाड़ी का का रहने वाला से और रह से पंजाब खोड़ में दूध का काम करे से किसे का ना विश्वास हो हम लाहौर के सार की झूठ नहीं बोला करते आसपास के बोल जाए क्योंकि झूठ तो उन कह दो नहीं मान दो भगवान की शक्ति को और जो इस पर विश्वास करेंगे तो परमात्मा में वह गुण, जरूर से जो हम युगा से सुनते आए बिजली के जो गुण से वो विद्यमान है पर लाभ जब देगी जब तो विधि से कनेक्शन करना आ जाएगा पूना दिया करे हाँ प्रसंग कहां चल रहा था कि विश्वास के ऊपर अब सम्मन के घर पर सतगुरु महाराज कबीर साहब और वो शेख फरीद और साथ में कमाल अब कमाल के बारे में थोड़ी और बता दू आपने क्योंकि जब तक सारी कथाएं नहीं सुन लोगे इतना यू ग्रंथ साहब नहीं समझ मानता कमाल एक मुर्दा बनता आवा था नदी में और कबीर साहब और सिकंदर लोधी शेख फरीद जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था गुरु था वो और और भी कई मंत्री जन उनके सेना यानी काशी से आ रहे थे रास्ते में पड़ाव हो गया कबीर साहब की महिमा जैसे परसों बताया था कि गौ काट दी थी कबीर साहब के सामने सिकंदर लोधी ने और कबीर साहब ने जिंदा कर दी थी कुछ दिना के बाद कबीर उस सिकंदर लोधी का एक इसी बुंडी बीमारी हो गई थी ये तो हम फिर लगातार बताओगे एक लंबा विवरण से पहले उस कमाल की बता दें तो कबीर साहब को साथ रखने लाग गए थे सिकंदर लोधी उनकी शक्ति को जानकर और जो उनका धार्मिक गुरु था ना पहले पहले वाला जो मुसलमान पीर वो जलन लाग गया कबीर साहब थे अकीस की चौधर होगी मेरी जात नहीं पूछता राजा इसने नीचा दिखा दू तो मेरी चौधर हो जाए तो उसने अपने मंत्री मंत्रियों को सबको पहले जो मुसलमान थे तैयार कर लिया कि कोई मुर्दा जिंदा आवेगा ना मुर्दा आवगा ना इसमें बनता हुआ तो उसको कबीर कहें जिंदा करवावांगे खरीद धंधा नहीं कर सकेगा इसकी आड़त है रिजेक्ट हो जाएगा या निकालता बनेगा शर्मिंदा होकर तो वो मुसलमान सारे क्या क्योंकि पीर का आगे किसी की मत नहीं हुआ करती कोई मुसलमान बोल पड़े उन जाकर गुप्त से और सिकंदर लोधी तो कहा हम इसकी परीक्षा लेंगे आप तो इसको को परमात्मा है परमा अल्लाह नो थोड़ा हुआ करे हम इसकी परीक्षा लेंगे कि एक ये कोई मुर्दा ही होगा ना आ भी जाए तो वहां आम आ जाया करते थे कई ऐसे हैं भाई जो मुर्दा बहा देते हैं फूकते हैं तो कबीर साहब के बात सामने बात गई सिकंदर कहने लगा महाराज जी जमीन की नहीं तो मानूंगा तो ये मेरे राज ने उल्टेंगे और बहिष्कार कर देंगे और मैं आप छोड़ नहीं सकता देखो मेरे दिल तो आप निकल नहीं सकते तो कबीर साहब ने बोले चिंता मत करे आण दे के आओ से शेरा होगा बगीरा होगा तो कुछ ही देर पास वो सारे नहा धो लिए डफराम हुए सुबह एक पंद्रह बारह तेरह चौदह साल के लड़के की एक लाश बहनती हुई नदी मान ला गई और इतनी दूर नजर उनकी थी अक वो आ गया बाजे आए ने बोले जी वो आ गया मुर्दा और कबीर साहब ने कह दो जिंदा कर दे वो मुर्दा इतना आ गया वो किनारे पर पहुंचे और सब सेना इकट्ठी होगी जितनी साथ थी वो मुर्दा सामने आया तो कबीर साहब कहने लगे वह शेख तकी तू कर ले अपने जंतर मंत्र कदे नो का मैं कर दू इसका आपने पाछे थे तो तो सिकंदर भी ने बोला कि तो ठीक है पीर जी आप भी अपनी कोशिश कीजिए अब पीर जी अपना करेगा वो कलमा पढ़ेगा कि था उसने वो इतना जा लिया दो फरलांग तो पीर कह लगा जी कबीर तेने सोचा सर किसी प्रकार यो मुर्दा आगे लेकर जा उसका पीछा छूटे यू भी नहीं कर सकता महाराज कबीर साहब जब मैंने उंगली का इशारा किया था वो मुर्दा बनता हुआ वापस किश्ती चाल कर जो कर सामने आ गया और वहीं डट गया पानी का बहुत तेज बहाव तो वहां ने बोला कि ये जीवात्मा जहां भी है कबीर साहब कहते हैं इस मुर्दे में प्रवेश कर अखबार आ जा कबीर हुक्म से उसी समय लड़क उस शव में हरकत हुई बंधन टूट गए और वो छोरा एकदम खड़ा हो जाता है और वहीं से कबीर साहब की जय बोलता हुआ उनके चरणा में दंडौत प्रणाम करता है बोल सतगुरुदेव बोल बंदी छोड़ मारा तो इस प्रकार मारे बंदी छोड़ कबीर साहब में इतनी शक्ति है ये आपको चित्र भी दिखाते हैं कि महाराज ने कमाल को किस प्रकार जिंदा किया ये देखिए ये सौ बनता हुआ आरएस तो इसमें ये तो वो लड़का मुर्दा बंदा हुआ था ये जीवित होकर सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा है ये वाला तो ठीक है इस प्रकार वो कमाल जिंदा जब किया नाम तो कुछ और था उसका तो सब ने कहा महाराज आपने कमाल कर दिया कमाल कर दिया उस छोरे का लड़के का नाम कमाल रख लिया और अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रखे अब कई गलत गलत धारणा ये बना रखी है कबीर साहब का औरत थी और बोला दो छोरे एक लड़की और एक लड़का उसके थे नहीं इस प्रकार मुर्दे जिंदे करके कबीर साहब ने अपने साथ वो लड़का रखा था इसी प्रकार वह कमाली जो नाम की लड़की नहीं थी उनकी ऐसे जीवित की थी उस शेख तकी की लड़की <clears throat> मर चुकी थी और कब्र में दाब रखी थी तो एक दिन उस शेख तकी का फिर चढ़चड़ी उठी कि भाई इसने तो नीचा ना दिखाई कि भी क्या दिखावागे कि मेरी लड़की तेरह दिन से यानी कई दिन से इसमें कब्र में दाब रखी है जय इसने जीवित यू कर देगा तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे वहां के मौजूद मुसलमान काशी के इकट्ठे कर लिए ना इसके दिल्ली के और सारे जाकर अर्ज करते हैं कि महाराज जी आपने इस काफिर को रखा हुआ है हम इसकी परीक्षा लेंगे कबीर साहब ने काफिर कहते हैं तो ईब भाई राजा की केब साहब जब सारा देश के मौजूद तगड़े तगड़े हुआ पहुंच गए वहां पर नो बोला भाई ठीक से मैं अर्ज पूछ लेता हूँ गुरु जी आते नो बोले गुरु जी आप करते दिए बहुत दुखी मन महाराज की बात रहे कबीर तो साहब बोले राजा क्या बात है अब मैं बता जोगी भी को ना और बिना बताए भी नहीं सर बोला बता दे उन्हें बता दे कोई बात नहीं नो कह दे ने सारा ने कि आज तो तीसरा दिन कबीर साहेब उस सोरी ने जिंदा कर देगा अच्छा कमाल की बात किसी का जत थी किसी का नहीं यकीन होता कि सारा मुनादी करवा दो आसपास इकट्ठे हो जाएंगे इकट्ठे हो गए निश्चित दिन को जाकर बंदी छोड़ने व कबर फड़वा दी वो लड़की जो है उस कबर में कपड़ा में लपटी हुई पड़ी हुई थी तो महाराज कहने लगे भाई शेख तकी अपनी लड़की ने भी तू जिंदा कर ले कदे दो कह मैंने कर दो इस काम ने तो वहां संगत खड़ी थी वहां हसन ने वाली महाराज जी अगर यू जिंदा करनिया होता अपनी छोरी ने कोई माटी में डाल कर जा सके इसी इसमें शक्ति होती है आप करो तो बंदी छोड़ने उसी समय नो कहा कि एक शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा ना हुई और शेख तकी कूद गए छोरी जीण की खुशी नहीं मानना था उसको हरान की खुशी मानी कूद गए नो देखा बंदी छोड़ने बोले के हे जीव आत्मा जहां भी है कबीर हुक्म से और इस सौ में प्रवेश कर और बाहर आ जा इतनी देर में लड़की जीवित होकर आ जाती है बोल बंदी छोड़ मारा और ढाई घंटे उस लड़की ने प्रवचन किए ने बोले ये कबीर अल्लाहों का अल्लाह है ये ये जो चाहे सो कर सकता है किस धर्म में पिताजी और सारा के तुम गौ कटवाते हो महा पाप के और नरक के भागी हो गए तुम गुमराह करे बैठे इतने बड़े समाज को कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान जो पाप करता वो पापी है उसको सजा भोगनी होगी ऐसे ही गरीबदास महाराज ने बहुत लंबा चौड़ा आपको वर्णन सुनाऊंगा अपनी वाणी में कितने ढंग से दोनों धर्मों को समझाया कि भाई कुफर करे तो यो मन मैला भाई बुरे कर्म करें तो यो मन मैला होता है इसमें विचार बदल जाते हैं तो यहां आप देखिए वह लड़की ये कबर फुड़वा रखी है और फिर यह लड़की इधर ये बंदी छोड़ खड़े हैं और यह लड़की का सौ पड़ा हुआ है होगी अब ये इधर ये महाराज खड़े हैं और लड़की महाराज को प्रणाम कर रही है ये मुंह बोली लड़की थी सतगुरु की अपनी मतलब स्त्री से उत्पन्न नहीं थी ना इनका कोई स्त्री थी कई भाई कहते हैं कि उनका लोई नाम की पत्नी थी ये ब्रह्म भ्रम है उनका लोई नाम की कोई पत्नी नहीं थी जैसे महाराज गरीबदास जी की आरती सुनते हो दास गरीब कह लोई यो पद चिन्ह है बरला कोई नर लोई नर नारी लोई नाम नारी का उस है एक भाषा है जिसमें लोई नारी को लोई कहे से नर नारी नहीं कहा दास गरीब कहे नर लोई साहेब चिन्ह है बरला कोई यानी यहाँ नारी को कहा तो महाराज गरीब कबीर साहब ने कई जगह लोई नाम से प्रमोदित स्त्री को कर रखा है तो उन अनजान व्यक्तियों ने नो कह रखा है देख लोई या लोई थी एक उनकी चेली शिष्या उनकी पत्नी भी थी एक शिष्या भी थी ऐसा नहीं था अगर ऐसा होता तो हम मान लेते हमने के जो नहीं था ये अगर ये झूठ होती तो ऐसे गप्पे मारन की ये कति सत्य था और कोई झूठ नहीं थी इसमें अच्छा अब आपको संशय हुई होगी कि तो 600 साल पहले की बात है कदे साचे गपौड़ हो ईब ताजी बतावा आपको एक तो आपको परसों कल बताई थी बिजलहान के अंदर एक लड़की के गुर्दे ठीक हो गए वह मुर्दा जिंदा ना थी तो और के था अभी आपने सुना नजब पंजाब खोड़ के अंदर वो लड़का दूधिया जय भगवान जय प्रकाश वो भी अपने आप को नो कहता जी मेरी कोई उम्मीद नहीं थी और अब हम आपको ताजा बता यानी और प्रत्यक्ष और बता दें हमारे बूढ़ी वाले नाम के एक बहुत बड़े अच्छे महान सद संत हुए हैं पंजाब के रहने वाले थे रामपुर जो कि गढ़ शंकर के पास पड़ता है शंकर की तरफ जाते हुए रोड से मैं एक लिंक रोड जास है वहां से तीन चार किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ वहां पर वहां कम से कम साठ सत्तर कमरे बहुत लंबा चौड़ा छतरी बहुत लंबा वहां पर बना हुआ उनका उनके दाम पर तो वो आया करते क्योंकि गरीबदास जी के मतलब शिष्यों के प्रति शिष्य थे पांचवें छठे शिष्यों के शिष्य थे तो उनमें शक्ति सतगुरु की प्रचारी थी संतरी थी जिसके ऊपर बंदी छोड़ राजी हो जाए उसमें अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं और अपना रूप बना लेते हैं वो बूरी वाले ब्रह्म सागर नाम था उनका बूरी वाले तेने क्या कर दे जो कामड़ी वाला कह दें पंजाबी में भूरी कहते हैं लोई को या लोई हो से ना जो काली का, वो काली लो लोई रखा कर दे तो पंजाबी में पूरी बोला है उस लोई ने चादर कहो लोई कहो वो पूरी बोले पूरी वाला पूरी तो बूरी वाला तो ज्ञात कैसे उनको नाम उनका ब्रह्म सागर जी था तो वो छुडानी में आया करते थे अपने गुरुद्वारे में गरीबदास जिया के दाम पर तो वो कई दिन डट जाया करते थे सेवक सेवक सेवा मतलब कई सेवक हो गए थे एक मोजी नाम का जाट छुडानी का उनका सेवक था बहुत सेवा करा करता भाई कौन लासी ला दिंदा कपड़े धो देता भाई उनकी सेवा किया करते थे एक दिन उसका लड़का मर गया पांच छह लड़के थे एक लड़का छोटे वाला दो ना शरीर छोड़ गया उसकी फूकन की तैयारी हो रही थी इतने में एक भगत ने आकर बता दिया कि महाराज जी मोद जी का छोरा मर गया महाराज जी ने बोले भाई फूक फाक तो नहीं दिया है ना फूक क्या सहनी तैयारी कर रहे हैं तो नो कह दिए मोदी ने एक बार सतगुरु के धाम में माथा टकवा कर ले जा उसका तो फूकना तो सही अब मोदी को पता दिया मोदी ने बोला रे कित ले जाएंगे इस लाश नर मंदिर में तो पहले ऐसे हुआ करते दस आठ सात दस बारह बालक होंगे दो चार मर जाते हाँ, कुछ बच जाते ये आम बात थी पहले क्यों इतना इलाज उलूज नहीं था और दुख भी मानते ना भी मानते दोनों बात हुआ करती कि भाई थोड़े माटी दे आऊं फिर आऊंगा महाराज जी अंदर यानी संगवाद है इनको तो ने बोला ना भाई गुरु जी ने कहे कूड़े जरूर ले आऊं और वो सारे उधर से जाना था उन्होंने शमशान घाट पर राम लाकर अरने बोले महाराज जी सत साहेब सत साहेब आई ओ मौजी क्या हो गया कि छोरा शरीर छोड़ गया जी मर गया और ई माटी ए तू क्या सा ई बाई महाराज जी आपके दर्शन करूंगा इथे ला पंजाब के थे और इथे ला अकलास ने कहा तू इथे ला ले आए अक सतगुरा का आगे लुटा बंदी छोड़कर वहां पाठ भी चल रहा था उसके आगे लुटा दिया और उसके खुलवा दिए हुए ऊपर का बांध रहे थे कटा दे संसार अंदर देख लो काट का अपनी खड़ाऊ और उसके गुठे का गुठा ला करने बोला ओ सोरे बंदी छोड़ के दरबार में मरिया करें जिया करें और सेवका के मुंडे मरण लाग गए तो सानू कौन पूछा डे बंदी छोड़ने कौन जानेगा तन्नो बोले गरीब मासा घटे ना चल बद विद ना लिखे जो लेख और साचा सतगुरु मेठ कह भाई ऊपर मारे मेख तीन लोक के परमात्माओं की जो व्यवस्था है जो विधाता यहाँ का है वो मासा घटा सकता ना बढ़ा सकता जो उसने लग भेज दिया लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर वास सकती है कि यू उसके लेख ने मिटाकर अपना मेख गाड़ दे यानी अपना लिख सकता है जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी की सजा को बिना किसी गवाही के बरी कर सकता है और किसी दो को नहीं आ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री इसी प्रकार ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास या शक्ति है गरीब जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख अदले अदल कबीर हैं भाई कुल के सतगुरु एक जम जिससे काल और यम के दूत डरे और मिटे कर्म के लेख ये कर्म के लेख भी मिट सकता इंद्रमती के मेटे ये आपको सुनाएंगे आगे के के काम बंदी छोड़ने करके दिखाया जिसको हमने एक कवि और भगत जान के नकारा कर रखा था तो इस प्रकार वो लड़का जिंदा हो गया बोल सतगुरुदेव और आज ताई जीव से कदे किसी का भ्रम हो और ना जसे वो पचहत्तर साल मतलब पैंसठ सत्तर तो ऊपर ऊपर हो रहा था उम्र फौज में नौकरी भी कराया सुरते नाम सन्नोफ मोजी श्री सुरते सन्नोफ मोजी गांव छुड़ानी तहसील बहादरगढ़ जिला रोहतक यकीन ना होता तसली साबित गांव गवा पता कर तो बात यह है कि हम ईश्वर को ईश्वर नाम से जाने हैं उनके गुणा तो नहीं परख पाए और परमात्मा महाराज के साहेब संत कुछ अंतर ना ही परमात्मा में और उसके जो हो चुका है उसमें कोई अंतर नहीं है उसमें कोई अंतर नहीं है वो उसके माध्यम से करे जैसे बिजली आनी तो है थर्मल प्लांट से पर तार बिना नहीं आ सकती तार यहां पर संत और गुरु का काम करता है तो यहां हम अच्छा अब प्रमाण कहां चल रहा था कि कबीर साहेब उस सम्मन के घर पर पहुंचे हैं कमाल और शेख आ अब शेख फरीद का प्रमाण रहेगा बीच में शेख फरीद ने लगन लगी थी भक्ति की क्योंकि उसकी मां ने लाई थी गरीबदास जी महाराज कहते हैं सोए मात सराहिये जो पुत्र दे उपदेश कि वह मां आदरणीय जो अपने बेटे ने भक्ति पहलावे और नहीं तो नौके सकल रांड विचारणी न्यो भाकत है शेष कहते हैं जो भक्ति पर नहीं लांदी अपने बच्चे ने वो माँ व्यभिचारणी अपने बस अपने औलाद जान के और काल के मुंह में दे रही है महाराज ने कहा कि एक माता जो धरो की हुई सुनी थी उसको मां रूप में गिना कि उसने अपने बेटे तीनों जता दी बेटा परमात्मा बिना कोई नहीं देख मैं भी तेरी मोसी ने बाहर बैठा दी और मैं इस राजना अपनी अपना जाना करती बेटा या कति भूल से उस दिन के बाद उस धरु में जो लगन लगी उस मां के उपदेश से ईश्वर प्राप्ति की विष्णु जी की महाराज कहें जो जाकी शरणा बस है ताको ताकी लाज और जल सो ही मछली चढ़ पर बह जाते गजराज जो इसकी शरण में आ गया वो उसके प्रतिकूल बना लेगा उसको और उसको अनुकूल बना लेगा और अनुकूल बने पाछ वो अनोने काम कराया करे जैसे मछली पानी में रह से तो पानी उसको अपने ढंग से ढाल लेता है जल और ऊपर तो पानी पड़े मछली नीचे कर ऊपर जागे और हाथी पूरा बह गए और डूब सकता है तो यहां महाराज कहते जो मान रूपी हाथी है जिसके अंदर वो नहीं सतगुरु शरण में और वो लाभ पा सकता और जो अधीन होकर के मछली रूप में और फिर वो ऊपर भी चढ़ सकता है यानी परमात्मा को पा सकता है तो शेख फरीद का उसकी मान लगन लाई परछाना हुआ जब नहीं डटा नरी नमाज से काम नहीं चला है उसको अनजान गुरु मिल गया कि बेटा तप कर लिया करे उसने तप करा पहला तो दूणिया पर बैठ के किया पांच पांच दूने चार चार और जेठ के महीने में पर कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि ये साधन भगवान पाण के कोई ना ये सब शास्त्र प्रमाण दे बंदी छोड़ प्रमाण दे जब वो चालीस पैतालीस साल तक दुखी हो लिया कोई भी रास्ता नहीं मिला उसने सोची इसका अच्छा तो मरे जावा और कुएं में एक ऊपर का डाला जावा था डाली जावा थी टहनी किसी पेड़ की उसके जेवड़ा बांध के अपने पाया में जुड़ के और सहज सहज कुएं में उल्टा लटक गया अकीबता तो भगवान पावेगा पर परमात्मा ने नियम बना रखा तो उस नियम ने नो नहीं तोड़ता अग भाई देखो नो तो फिर सारे उल्टे लटकन लाग जाएंगे सारे भगवान ने पाना चाहोगे बारह वर्ष में गरीबदास जी महाराज कहते हैं सवामन अन्न खाया उसने बारह वर्ष में सवामन अन्न अरे एक आदमी मनमाने महीना में खा जा सवामन में पर वो सवामन बारह वर्ष में खाया इतना बस जीर्ण जोगा पर शरीर सूख गया और इतना पिंजर हो गया अस्थि पंजर हो गया जैसे इसमें प्रयोगशाला में टांगे रखा करें एक कांच से का बना करके लकड़ी उसके सा हो गया तो आखिर में कहते हैं एक दिन काग आ बैठे उसके माथे पे और आंख का गणता ही तो वहां एक भगत का शब्द है कि शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा भाई तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडा पर का मासा मेरे दोने नाना छेड़ियो मन राम अल्लाह मिलन की आशा फिर कह जिन करी तपस्या भारी थी वो हुए आश्रय हर कह नो कह कह वह रो पड़ा कि हे कव्यो भाई आंख आंख छोड़ दो मैं अपने परमात्मा के दर्शन कर भाई किता तो इस पर मांस बच रहा हूं उसमें खा लो भी रहा इतनी दया जरूर कर दो मेरे पर न्यू कहकर वो छक्कर रोया डटा नहीं जब हमारे अंदर रौन की व्यवस्था बन जाएगी भगवान के नाम पे तो भक्ति शुरू हो चुकी है और जिसने भक्ति करते होगे और तीन तीन घंटे बैठे से और जब तक अंतकरण में रोना नहीं बनता तो उसकी भक्ति शुरू नहीं है जब वो रोया पहले तो मान हो गया था तने इतने दिन तप किया फिर अभी मान हो गया तने बारह वर्ष तप किया तने पैतालीस वर्ष हो गए नाम पर और साधन पर लगे हुए और कोई समझावत समझने की कोशिश वो नहीं करे था कि यू के जाने जब उस स्थिति में आया तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं हम सतलोक तक आए जो कथी छक्के जीव दुखी होले से इन साधना न करके वो हमारी शरण में मुक्ति पावे तो कबीर साहब ने उसका पकड़ कर वो रस्सा एक साधु के रूप में आए सफेद कपड़ा में अरनू काट लिया बार में बार निकाल कर वो आंख खोली माड़ी माड़ी के कौन है तू तो? કેમે અલ્લાહ હું ખુદા નવલા અલ્લાહ કે યે લક્ષણ નહીં હે અલ્લાહ તો એસે દીખે જો તે દીખે ફલાણ દીખે નવલા ર વો બી દીખેગા પર નોના દીખે જો કર તુ લાગ રહા સે બેટા તપ સે اگલા જનમ મે તુ રાજા હોગા તીસરે જનમ મે કૂતતા હોગા બતા કે ચાહતા હે ગા ઇસ રાઝ ઇસ સપને તુ થોડી સી સિદ્ધિ હો જાયેગી लोगों ने बंडान लाग जाएगा थोड़े से दिन में कोई लाभ नहीं होगा अब उसने सोची भाई बात ये कह रहा काटे की फिर बताया कि तप से राज राज जन्म तीसरे शुक्र सवानम सूर और कुत्ता बनेगा फिर शास्त्र प्रमाण देश राजेश्वरी नरकेश्वरी तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी तो उसका जचगी के भाई बात तनो की नो तब से तो राज मिलेगा गुआर बोए तो उसका जो है ना गेहूं नहीं लागेंगे किकर बो का आम की बात देखे तो उसने नो कहा जा सके है कि इसके आम नहीं लगे बेटा भाई किकर लगा करें जो विश्वास कर लेगा देखा मैंने किस आम चाल में बताऊं तो वो नो बोला जी फिर कैसे हो कि मैं बताऊं भाई नो अग बता दो महाराज तो जिंदगी बर्बाद कर ली अकीब के बन जाएगी खूब बन जाएगी तेरा तो अंतकरण साफ हो रहा है ये तो व्यवस्था बनाई इतना भजन करण जोगा कर लिया है शरीर जैसे कई बार साधना करते यूं कहे शरीर में बैठन की चार घंटे बैठना चाहिए महाराज कहे यू तो मन जितनी भी साधना से भगवान के नाम लेने की तैयारी कर रहे हो आप यू भगवान नहीं भज रहे तो दो तीन घंटे बैठने की आदत बन जाएगी फिर वो नाम सुमरो अल्लन की कोशिश ना करो गणा बाजन की कोशिश मत करो लेकिन नाम की एक और व्यवस्था बताई सतगुरु महाराज ने कि बैठने की आवश्यकता नहीं चलते फिरते उठते बैठते सोते कभी भी ईश्वर का नाम सच्चा नाम जपते रहा करो और बांधते बांधते भजलो रोटा ढोते ढोते लो भाई गोबर गेरती आन लो बस में बैठे हो जब लो फुर्सत में ड्यूटी थे जब भज लो आते जाते भज लो राम नाम ले परमात्मा का सत नाम लेंदे सत नाम नहीं जपना कदे को घर जाकर नो लाग जाकर सतनाम सतनाम नहीं वो भी गुरु से लिए बिना पूरा सच्चा नाम एक और से और जपना हो तो तब शेख फरीद कर जचगी और नाम लिया ने बोला भूखा मरे मुक्ति ना होया करे महात्मा बुद्ध का प्रमाण मिला है कि starvation could not lead lead to salvation के भूखा मरण भक्ति नहीं हो सकती भाई ना मिला हो भगवान तो इस प्रकार उस शेख फरीद ने कबीर साहब से उपदेश लिया नाम लिया और वो इनाम दिया जो कबीर साहब ने गरीबदासियों को दिया गीसा संत को दिया धर्मदास जी को दिया और वो हम आ गए उस नाम ने तो जप रहे हैं तो हम कबीर पंथी है ना तो छाप छाप कबीर की हर नाम बजा कुछ और तो वो मुक्ति का बात मत देखना ये बंदी छोड़कर है मैं नहीं कहता हम तो सिर्फ इनकी वाणी को सरलारत और समझा रहे हैं तो उसके बाद वो शेख फरीद जब अंदर की झलक दिखी और सतगुरु की प्राप्ति हुई ईश्वर की तो बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहने लग गया और वह परमात्मा थे कबीर साहब तो उनके साथ रहने में नारा सुख आया करता अब ईश्वर के पास जो सुख कहते हैं गरीबदास जी जिन में लगते हैं सुख उपज मिट्टे कोट उपहा दे भवन चतुर्दश ढूंढी यो वो परम ही साध के जिनके दर्शन मात्र थे एक तेनो दिखा वो आ गया और माथा ठनके कांधे के मन के मन करा के समस्या लेकर आया होगा अरे एक मुँह गुरु जी आगे भगत जी आगे और आत्मा प्रसन्न हो ताकि होता कि मैं भक्ति का बारक बताना आया होगा कि सत्संग की कहना आया होगा इतनी प्रसन्नता होती है और संता के पास गुरुओं के पास जाकर जो आत्मा प्रसन्न होती है कहते उनसे जिनका मिलते खुशी हो इसे संत में कितना भी पावे उड़े ढूंढ लियो तो वहां शेख फरीद उनके साथ रहने लगे तो एक दिन शेख फरीद और कमाल और कबीर साहब तीनों वहां से चल पड़ते हैं काशी से और सम्मन के घर पर शाम न पहुंचे दिन छप्पन न हो रहा और उनकी इतनी कमजोर हालत थी सम्मन के परिवार की वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी बेचारा की एक आधी तो समय भी रोटी बिना खाए ऊक जाता था सुबह या शाम का पर भक्ति में इतने आरूढ़ थे विश्वास था अपने इष्ट पर कि परमात्मा या भक्ति दे राखी ये ईश्वर हमें या ना ले लियो मारे पर भूखे बाड़े पड़े भी रहेंगे तो इतनी देर में सामने देखे हैं कि गुरुजी खड़े और आज तक तो तीन चार साल में आए हमारा जी पहले हम ही दर्शन करने जाया करते थे इनके साल भर में दो दो दो बह और आज हमारे कंगाल के घर में जिसकी चौसठ लाख शिष्य और वो आगे वहां पर तो दर्शन करने के समय ना मिलता था और नो अपने भाग्य को सराते सराते और रोण लागे तीनों मात उसको लड़का और उसके माता पिता दंडोत प्रणाम करके नो बोले मारे ओड भाग और परमात्मा हमारे घर पर आ गए हे महाराज आज क्यों कर भाग जागे हे परमात्मा हे सतगुरु आपने कैसे दर्श दिए कैसे हमारी सुनी आइयो महाराज बोरी बिछा दी सतगुरु दीना बैठना आसन दिया लगा और शेख फरीद कमाल ने वह लिए सुतार चढ़ा तो वहां कहने लगे अब कबीर साहब ने पानीपात पी करने बोले भाई सम्मन है भाई भोजन करांगे रोटी तैयार करवा दी सबन बोला महाराज भोजन का विचार सुनाओ अभी पाओगे डटके अगजी भाई तैयार कर लो जल्दी भूख लाग रही से अब अच्छा अब सम्मन अपने घर ने आ गया भीतर ले कोठड़े में एक बीच में आग कच्ची सी द्वार थी बीच में आंगन और पाछे ने उनका एक मकान और था कच्चे से कच्चे होते थे गरीब पहले ज्यादातर अपनी पत्नी नेकी ते जा कहने बोला नेकी महाराज जी रोटियां की कैसे भोजन की गरज कह रहे से के जाऊं रोटियां का तो कहने लगी महाराज जी की रोटी तो एक दाना भी को ना अन्न का एक दाना भी नहीं रह रहा यानी ना आटा है ना गेहूं से कोई भी चीज कोई भी कणक नहीं है तने बोला मांग लिया न किसी पर पड़ोसन पर जाके वह बोले जी मैं तीन चार में जाया ही पर कोई नहीं देती एक मतलब छटाक भी नहीं देती तेनो बोला ला तेरा यो चीर ओढ़ना इसको धराऊ के ला तेरा चीर धराऊ गहने और उसके बदले में दो ढाई शराता ले आऊंगा ने बोली इस चीर ने लेकर मैं दो तीन जगह गई थी यू पार्ट रहा दो जगह इस चीर ने भी कोई नहीं देती अब देखो अपनी औरत का ओढ़ना तार का रो एक था उसके सिर पर और उसको जाकर देना यह छोटी बात नहीं है अब एक चीर उतारण खातर बेजती करने के लिए दूसरा सन यानी चीर तार दिया तो समझो उसका कति सारा ही सब कुछ बेजती होगी लेकिन वहां अपने गुरु के लिए सतगुरु के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका आगे के चीर और के इज्जत आज संत आए राजा वो खेजा तो उसने अपनी पत्नी ते कहा तो उन्होंने बोली ओ बैठ के धरती खोदन ला गया कि बहुत अच्छी भीड़ बनी के बने तो वह उसकी पत्नी ने की कहने लगी चिंता मत करो इबता हाथ जोड़ दो गुरुजिया के अरनो कह दो जी सुबह रे रोटी दे देंगे अब सुबह की तावगा वह बोली तुम दोनों बाबू बेटा चोरी कर लेगी अपनी खातर ते लियो मत ना संता की खातर ले आना अब वो छोरा रोज सुना करता शिव चोरी करना महापाप है जो चोरी करे उनका नाश होया करे वो बर्बाद हो जाते इसका अच्छा था भूखा रह ले बेटा ये सुना करता और वो लड़का हाथ जोड़ कर बोला हे माँ नो क्या करे अब चोरी करे वो नष्ट हो जाते हैं माँ पापी होते हैं बुआ माँ ने बोली बेटा हम अपनी खातर नहीं करते और देख इस नगरी में परमात्मा आरिस है और ये लोग तो जानते को ना और हमने इसका मालूम से और जय ये संत इस नगरी से बिना रोटी खाए चले गए तो नष्ट हो जाएंगे या नगरी गरक सकती है जो इतने अभिमानी हो चुके हैं कि गरीब ने सहायता नहीं करते तो अब थोड़ा सा प्रमाण और दे दें हम आपको एक बहुत बड़ा नगर था वो उसमें बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहा करते थे हाँ अग्रवा के अंदर कथाएं सुनते हैं अग्रवा की भी एक और भी बताते हैं इतने बड़े सेठ थे यानी पैसे वाले को सेठ कहते हैं किसी भी जाति का हो पैसे तो सेठ सहना तो कोई सेठ नहीं चाहे वो भी देखे हमने जो लाला वंशी जहां में से जो है ना करावस है लोगों की और छोटका उन्हें सेठ को ही निकंदा वो बेस कह दे फलाना बनिया से तो सभी जो उस गांव में बहुत अच्छे पैसे वाले थे और कोई भी को साधु आ जाया करता उसने टूक भी नहीं दिया करते नो क्या करते चल करके खा चल मारा पल्लेदारी कर लेना तू ईशा बस टंडा हांडा धक्के खानता तो एक बार कहते हैं कि बहुत बड़े शब्द यानी वहां पर गोरखनाथ जी को हो और उनके अनुयायी को कोई संत जा रहे थे वो जाकर नगरी से बाहर बैठकर शंख बजा दिया करते हैं और शंख बजते हैं जहां भी नगरी में जाते जान जाया करते साधु आ रहा से रोटी पहुंचा दिया करते उन्होंने शंख बजाया कोई नहीं पहुंचा फिर उस लड़के ने बोला बेटा जा तू मांग ला भिक्षा लिया वो श्याम ने जाकर उसका शस्त्र सारे गांव में जावस है और कोई भी रोटी नहीं देता ना अन्न देता नो कह चल मस्टंडे करके खाया करो तुमने तो डोब रखा सारे काम को तो वो चेला शाम ने वापस आ गया वापस जाते हुए कुमारी उसने देखे थे पर वह न्यो नहीं बोली शर्मांती कदे मारे अन्न ने यो महात्मा ना खावा एक छोटी जाति वाले ने पर मैं कह भी दो जी ले जाओ भिक्षा और ये ना लेते हो कदे अच्छा वो चला गया और क्योंकि उसने न्यो मालूम था कि इसने भिक्षा नहीं मिली होगी फिर भी नहीं बोली नो बोला गुरु जी ईसा गांव तो ना देखा था आज तक ईसा नगर नहीं देखा भाई सेठ और भी देखे वे तेरे पर ईसा जुलम नहीं देखा था कोई जुमा रू भी ना जोड़ दे राम राम तो सो सो कोस भी तेने बोला भाई कोई बात ना बेटा तड़के फिर जाइए उस सवेरे फिर गया जुड़ सा जावा आ गया फिर तड़के मुंह बिना धोया सर चल आगे ना कोई धमकान बाज है कोई मारन इसका डंडे यानी इतनी कुबद होगी या माया बहुत खतरनाक होती है बर्बाद करके दर्दे से प्रथम काम अभिमान करने का है इसका तो वो शिष्य पंद्रह सोलह साल का वापस जोड़ी लानता हुआ है वह कुमारी बार वह इसी घर थे जो बोले महाराज जी सुनियो सुनियो उन्हें देखा पाचे ना के कैसे माई एक व्याख्या मिल गई कुछ नहीं बोला अख देख महाराज जी इस गांव में तो मिले नहीं तने और मैं सुकुमारी अर्जन्यो कमता हो ना मेरे पास शाम की खिचड़ी बनी हुई से मैं सू गरीब हरिया ले जा तुम तक कई दिन के भूखे दिखो अकमाई सह तनो की नो अकले ले जा खिचड़ी और कुछ आटा भी डाल दिया वो लेकर आ गया तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए अक मिल भिक्षा अक महाराज जी या सह कुमार के घर की देखा आप खाइयो चाहे मत खाइयो मैं ले जरूर आया भूखे ज्यादा थे दो तीन दिन हो गया अपन खाए दो तीन जून समय उग चुका है ने बोला गांव में और किसी नाम नहीं दिया जी आप अनकी को मैं तो बचकाया हूं मोगरिया तो ही खान का बहुत हो गया था ने बोला खा रोटी इस माई का भोग लगाओ भोजन खा दोनों ना खा कर बोला इतने खाया खुआ बारह एक बज गया न्यू बोला जाकर उस माई ने कुमारी ने कह दे कि इस नगरी ने छोड़ जा तो वह पूछेगी क्यों कान सिंह कह दिए कि तो जकर कर देगी तो तेरी भी साथ से पर तू जकड़ जा सक दे वो एक का घर था कुमारा का विधवा थी दो लड़के थे उसका दो तीन और नो कह दिया अपने गातन ने लाद के इन गधा पर चलती बन जा और जहां भी तना जन छप जा उड़े डट जिए तू वहीं पर खूब बसेगी गांव तबारे तो बार उसने जा कह दिया यू शाम तड़के यू गांव नहीं पाओगा थेड हो जाएगा पहले संत इसी बंदूक रखा करते या तो साधना या कराया करते तकरीबन कि उनके पास ये डंडा या बंदूक होया करती सिद्धि की अब आगे बताओगे सिद्धि से क्या उपलब्धि हो गरीबदास जी महाराज जिसने हम सब कुछ समझे थे पर यहां इसको प्रधानता देनी पड़ रही है क्योंकि डंडे बिना ये समाज मानदा भी नहीं इन थानेदार खड़ा हो और डीसी खड़ा हो थानेदार ने नमस्ते करेंगे डीसी ने नहीं कर दे इधर हमारे गांव हमारा हम बालक थे छोटे छोटे और उसका गनमैन था सिपाही उस गनमैन ने सब ने कहे राम राम चौधरी साहब हर डीसी का नहीं मुंह फेर ले और उन्होंने कहे ये साहब ये से जब जिसने नो बेरा पिट जाए डीसी से जब वो तय तो कर देना तो पहले उसने करे थे क्यों दौरा तो बंदूक दिखे थी तो इसी प्रकार हम जिस दौरे नो लाल कपड़े हो और सिद्धि हो उसने तो सत्साह महाराज जी और दूसरा चाहे तो भगवान अंडे जाने मरे नहीं गलो है तो ये हमारी कुदरती शुरू से व्यवस्था बनी हुई है तो जी वानू बोली के न्यू कह दिए उस ही शिष्य ने बोला कि जल्दी कर जा उसने जाके सारी बात कान में बता दी माई जब विश्वास करती है तो बचना तो यहां से निकल जा हमारे गुरु जी हमें बहुत बड़ी शक्ति है कि माई के दात फूल गए अकाची रोटी भी गांव भी छुट गया पर ने सोची संत का आकर वह बात पार हुआ आकर उसने घायल कर लाथन अपना जीती से उस समान था पांच सात गजा पर धरकर बैठा कर छोरे न और चालती बनी इतना समान चार किया इतना उसने चार पांच बज गए चलती चलती हुआ तीन चार किलोमीटर जाते दिन छिप गया उड़े डट गई सवेरे वो तो गुरु चेला वहां से प्रस्थान कर जाते हैं तो रात ना लण आया बुचाल वो साबत गांव रात के बारह साढ़े बारह बजे गर्क हो गया आज भी अगरवा थेड़ होया पड़ा है वहां से फिर गांव चौगरदा तो भाई फैल गई भाई गांव गर्क हो गया गांव गर्क हो गया बोलना उदा जाके देखें कुछ बच गए कुछ मर गए वो कति वहां से उजड़ गए फिर पता चला उस माई ने बताई कि तू कहां से आ गई कि तो मैं उस गांव से लेकर आई क्यों लेकर आई कि ऐसे ऐसे एक संत ने नूर ने बात बताई थी मेरे तो उसके प्रति इतनी हमदर्दी होगी कि बेचारी विधवा संत की वाणी कि विधवास है कित जागी मैं बोला माई तो कितना ना जाइए वे वे और ये वो पांच सात गांव मानक क्यों जमीन नरी पड़ी रहा करती वहां पर उसमें न बोली इतने गांव कट्ठे हो गए पांच सात चार आसपास के न बोले इतनी जमीन आम दास है इतनी आम दास है इतनी यानी उसको पूरे गांव जितनी जमीन उस माई को दे दी उसका मकान बना दिया आज कुमारिया के नाम तो पूरा गांव बसा हुआ है अग्रवा से थोड़ी सी दूरी पर है तो भाव इस उद्देश्य को मन में रखते हुए कि जिस नगरी से साधु भूखे जहां से वह बचा नहीं करती तो उन सोची के हम चोर को हालांगे तो भी चोखी गांव तो बच्चा रहेगा तो अपने पुत्र तेने बोली बेटा देखियो यू भी परमार्थ से अब हमू नहीं लावांगे सन के ये प्रण हो लिया चाहे मरा भूखे मर के तो छोरा भी राजी हो गया गुरु जी खातर और साबत गांव बच्चा है तो कोई ना मां हम जावांगे चोरी कर चाल पिताजी दोनों बाबू बेटा चोरी करने चल पड़ते पिता पुत्र एक बाणिए का जाकर पाड़ लाली कच्चे ढूंढ होया करते मकान दुकान से तो वहां जाकर सेऊ तो नो कह पिताजी मैं जाऊंगा भीतर और सम्मन नो कहना बेटा तो एकला तो पुत्र अब तू पकड़ा गया ये राजों के राज तड़के फांसी तोड़ देंगे हम किसका लागेंगे रे बेटा तू बाहर रहे मैं जाऊंगा भीतर खा कुमा लिया तो माँ बेटा अपना दुख दुख बसी ने बोला नहीं पिताजी आप पकड़े जाओगे ना तो क्योंकि भी बात सूत में नहीं आओगे मैं बालक सू किसी पर दया भी आ जा छोड़ भी दे वह बालक था होगी होगी गलती न्यू कहकर पहाड़ में बढ़ जाता है उस कुंदल में अंदर जाकर नो बोला बेटा ख्यास करिए सिर्फ ढाई शेर तीन शेर अंदाजा सा लाइए ज्यादा ना संता खातिर हमने नहीं चाहिए इसमें एक छटाक भी अच्छा पिताजी जाके अंदाजा सा करके नू घाला था और वो अपनी पाटी कुटी चादर में लपेट के और पोटली सी बांध के चालन लग गया इतने में काखड़ी सी का पाल लग गया उसका वो खुड़का हो गया बाणिया जा गया चोर चोर चोर करके लाला जी ने उस छोरे को पकड़ दिया कसके इतने में उस कुंदल माँ के पार में के उस पोटली ने बगा गया पिताजी में लाला जी ने पकड़ दिया सू और जाकर गुरुआ खाते रोटी बना दो बनवा दी मेरी उम्मीद ना करिए लाला जी ने खंबे तो बांध दिया छोरा अब तने ये बनावांगे भगत है हैं रोज पाखंड कराया कर दे सत्संग करावा सत्संग करावा चोरी कर दिया डोई वे ये कुछ भी कह लाला जी तेरी मर्जी तो वह जब घर गया तो वह नेकी जो थी वह ने बोली छोरा पीछे अकबाणी ने पकड़ लिया तो कोई हो तन्नू बोली न्यो कर उसके सर काट ला और नहीं तो छोरा पिछाना जागा फलाना का से और गुरु जिया की बेजती होगी रोटी तक तो खुआई को ना ये कह दौर करवाएंगे इनकी तो बोला के करूं उसका सर काट लिया अब लेकर करद इतनी लंबी और लको का पाछे में चाल पड़ा जाकर नो बोला बेटा सेऊ एक बहुत जरूरी काम से एक बार बतला ले मेरे को तो बाणी तने बोला लाला जी मेरा पिताजी खड़ा से बाहर एक दो बात कर लू कल तो हमने को मिलन नहीं दे हो सकता मेरी सजाए हो जाए फांसी टूट जाऊं एक जरूरी काम से बोला ना बात जागा अब मेरा पा बांध दे थाम के मेरी नाड़ नाड़ काट लेंगे अब वो सदबुद्धि परमात्मा सतगुरु ने उसको पानिये को दी उसका पा बांध के थाम तो ढीला जोड़ा कर दिया अकेले बतला ले मर ले नाड़ काट कहने बोला पिताजी अब बाप था नहीं हाथ उठा कति नो कि नो पछिन रहेगी हुआ कर बोला पिताजी कान न कान करे कहा मेरी नाड़ काट ले देखे जय तो मेरा बाप से तो आज परीक्षा से ना तो मैं आवारा होगा